या वो कहते हैं कि इसने खुद ये कुरान घड़ रखा है आप कह दें कि तुम भी इस जैसी दस घड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ अगर वाकई तुम सच्चे हो